Thank you. जगद भूमि मेराए न वही बुद्धि विद्याताए वृंदवधात समी गुरु कैसे बल के वचन सिंह सहज सिंह कठोरिंधन फल गौरा इतराई भूमि परत भादा भर पानी जन जीवन माया लपटानी संत संत जल भर ही तलावा घूमे का दुर्गुण का गौने का जल जल निगम जाई भोरी अटल गुण जीव हरि पाई हरित भूमि तन संकुल समुझ परायण पंथ गुणता खंड वादते गुप्त सदग्रंथ Thank you. बनाई है तो उसमें भगवान रहते हैं गुफा के बाहर एक स्थित मन की शिला पड़ी हुई है बहुत सुंदर पत्थर जो बैठने योग्य है उसके ऊपर भगवान राम लक्ष्मण जी बैठते हैं तो बैठने का स्थान है आसपास पर्वत के ऊपर बन है ये पर्वत का वर्णन है इसलिए पर्वत के ऊपर चढ़ करके गुफा है और आसपास सबके सब तरफ जो है वृक्ष हैं फूल हैं खंड हैं चंद्रमूल इत्यादि सब होंगे और पक्षी भी हैं उस पर्वत पर ये देख रहे थे और कल ये भी देख रहे थे तो बताया तो इसी में दो बातें तो जो देवता लोग हैं वहाँ के पशु पक्षी इत्यादि का रूप धारण करके भगवान की सेवा में वहाँ है जिससे भगवान राम जहाँ आप वो रहते हैं वहाँ पर तो ऐसा नहीं कि वहाँ वास करते हैं तो दर्द समय जाता है लक्ष्मण जी के साथ बैठ करके धर्म की बात और परमार्थ की बात करते हैं ये समय का सबसे अच्छा उपयोग सदुपयोग कि तो समय को व्यर्थ समझाने जाने दें बात करें जैसे तो अपने ध्यान करें जप करें और अपनी साधना करें स्वाध्याय करें लेकिन बातचीत भी करें तो उसमें बातचीत में चर्चा जो है वो है धर्म की चर्चा है परमार्थ की चर्चा है धर्म के सिद्धांत एक व्यक्ति व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं उनका स्वभाव अलग अलग है उसके स्वभाव के आधार पर भी व्यक्तियों का धर्म निर्धारित होता है और आयु के आधार पर भी निर्धारित होता है बाल्यावस्था लेकर के वृद्धावस्था तक ये धर्म बदलते रहते हैं सबका धर्म एक नहीं है अलग एक तो और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे गुण हैं जो कि सबको भी स्वीकार करने चाहिए जो तो सर्वमान्य है सत्य है हिंसा है आस्ते है अपरिग्रह आदि है ये गुण ये तो सामान्य धर्म कहलाते हैं सभी को इनको पालन करना चाहिए इनकी चर्चा करनी चाहिए इनके पीछे सिद्धांत क्या है इनको मानने से क्या लाभ है न मानने से क्या हानि है व्यवहार की क्या हानि है समाज की क्या हानि है इस जीवन में क्या हानि है आगे आने वाले जीवन में क्या लाभ क्या है ये सब चर्चा करके विचार करके बार बार चित्र में दड़ करें जिससे कि संस्कार मजबूत संस्कार बने उनका विचार करें धर्म का परमार्थ का भी विचार करें परमार्थ के लिए कहे विवेक चाहिए फिर वैराग्य चाहिए फिर पर शास्त्र का ज्ञान चाहिए फिर उस ज्ञान के अनुसार अपने अंदर उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए इस परमात्मा में प्रीति हो भक्ति हो समर्पण हो किसी की पराशत रहना सीखे ये सब परमात्म जो में है इन्हें भी सबकी चर्चा व्यक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए हर व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाएगा तो बुद्धि लगाने को विचार करने पर कुछ न कुछ उसे सूत्र हाथ में लगेंगे उसे चाहिए कि अन्य लोगों को भी बता दे तो अन्य लोग बताएंगे कि हाँ ये अच्छी बात हमने बताई अच्छा ये बात हमें पता लगी तो उन लोगों को भी लाभ होगा और अगर हम गलत समझ रहे हैं तो दूसरे लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसी बात तो नहीं बचती है जैसे कि आप बताते हो इसलिए <clears throat> ये आपस में विचार विनिमय के द्वारा इस ज्ञान को और सिद्धांतों को छानबीन करते रहे <clears throat> जैसे गला छाना जाता है उसमें से साथ से निकाल दीजिए साथ साथ निकाल दीजिए ऐसे करके इस ज्ञान को भी छानते रहना चाहिए और जो इसमें से ज्ञान उपयोगी ज्ञान और जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक ज्ञान है उसको ग्रहण करते रहें और जो छोटी बातें हैं उनको निकाल के फेंकते रहे अब इन्हीं सब बातों को तुलसीदास जी जैसे देखो प्रकृति का वर्णन करते हुए इनका सबका विस्तार करते हैं उदाहरण दे दे करके वैसे तो ये है कि वहां पर कथा के अनुसार तो अब वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु कैसी होती है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं उसके वर्षा ऋतु के जितने अंग हैं विभिन्न बातें हैं वो सब बताते हैं लेकिन ऋतु मात्र का वर्णन करने से भौतिक मात्र वर्णन करने से काम पूरा नहीं होता उसके परमार्थ के संबंध में भी विचार करना चाहिए तो धर्म और परमार्थ की बातें भी साथ साथ विचार करते जाते हैं ताकि तो आगे कहते हैं ये भगवान कहते हैं घन करने को करके कुछ हो रहा है अब देखो बादल आए बरसात तो हो गई तो खूब बादल आएंगे बादल आकर के खूब गर्मी ऐसा लगता है बादल बादल जो है उनको बड़ा घमंड है कि देखो हम कितना चलदाय हैं कितनी वर्षा करते हैं हम कितने शक्तिशाली हैं हमने देखो सर्व सूर्य को भी आच्छादित कर रखा है और आपको प्रकाश भी नहीं मिलेगा ये सब उसका बादल का मनोघमंड है ऐसा घमंड लेकर के बादल आता है और आसमान में गरजता है अपने घमंड में तो घन घमंड में तो गर्जे तो घोरा घोर गर्जना करता गज बादलों की होती है अब यहाँ दूसरे भगवान थोड़ी सी बात है कि अपना प्रेम सीता जी के प्रति है वो भी प्रकट कर देते हैं कहते प्रियाहीन है बरकत मनमोरा कहते देखो इसमें काव्य सिद्धांतों के अनुसार ये है कि ये बरसा ऋतु जो है वो है ये एक जो प्यारी ये उस समय जैसे श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं एक वियोग और एक विकलम वियोग पक्ष में इस प्रकार के यही संयोग पक्ष में जो प्रकृति अनुकूल लगती है लोगों को और वही जो प्रलम्ब की अवस्था में वियोग की अवस्था में वही प्रतिकूल हो जाती है जैसे भगवान पहले ये दुख करते हुए कि तो पहले जो सुखदायी थे वे सब हमको अब दुखदायी लगने लगे हैं तो इस प्रकार से ये है यद्यपि बरसारत बहुत सुंदर है लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि हमारे हृदय में दर्द कम होता है तो दानी जमित दमित रहे न धन मांगी दो बात इसके पुराना पाठ है कि दान जमित रही धन मांगी आकाश में बिजली चमक रही है तो बिजली चमकती वहीं चमक करके लुप्त से चमकती और प्रकाश हो जाती चमकी प्रकाश हो गई ऐसे होता है तो उसी को दूसरी तरह से भी कह दिया बामन दमक रह न घन में चमकती तो है लेकिन उसमें टिकती नहीं बादल में उसमें रहती नहीं समाप्त हो जाती बुझ जाती खत्म हो जाती है ऐसे कहते हैं कि फल कहते हैं तो यथार्थ करना ही फल की प्रीत ऐसी होती है दुष्टों का प्रेम जो नीढ़ व्यक्ति हैं शास्त्री व्यक्ति हैं उनका प्रेम ऐसे ही होता है जैसे बिजली चमकती है वैसे बिजली का इसमें प्रेम में क्या है कि जब उनका स्वार्थ होता है तब थोड़ी देर के लिए बड़ा प्रेम दिखाएंगे जब प्रेम दिखाएंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि बस बड़ा प्रभाव प्रेम इससे ज्यादा प्रेम हो नहीं सकता उतना प्रेम दिखा देंगे और उसके बाद लुप्त से खत्म यहाँ उनका अपना त्याग खत्म हुआ तब खुद यहाँ नहीं खत्म हो गया प्रेम तो ऐसा प्रेम जो अस्थायी प्रेम जो ये ये दुष्ट लोगों का है नीच व्यक्तियों का व्यक्ति इसलिए फल शब्द प्रयोग करते हैं होते हैं इस समय सज्जन प्रति साधु व्यक्ति होते हैं उनकी प्रीत में स्थिरता होती है चाहे वो इतना ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा प्रेम न दिखाने थोड़ा थोड़ा प्रेम रहे लेकिन स्थायी रहेगा ये सज्जनों का प्रेम बहुत अधिक प्रेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेम निरंतर बना रहेगा और जबकि कभी किसी को कष्ट होगा तब से तो ज्यादा प्रयोग मिलेगा उसकी सहायता करेंगे ये सब सज्जनों का प्रेम दुर्गनों का प्रेम ये कि जब अपना स्वार्थ होगा तो बड़ा प्रेम दिखाएंगे स्वार्थ सिद्ध होगा तो दूसरे को साथ बने बिगड़े उसकी कोई परवाह नहीं प्रेम खत्म हो जाएगा क्षणिक प्रेम उनका होगा तो ये बता करके केवल बता रहे मतलब नहीं ये कहते हैं कि देखो ऐसी सफलता नहीं होनी चाहिए प्रेम ऐसी प्रेम ऐसा जिसका जैसा प्रेम नहीं होना चाहिए कि क्षणिक प्रेम किया बुला गया उसके बाद स्थायी प्रेम में स्थायित्व होना चाहिए फल कह करके इस प्रकार के स्वयं प्रेम की निंदा कर दी फल कहते तो यथा फिर नारी इस पर नहीं फिर कहते हैं परेशान के लगे भूमि में आए <clears throat> अब देखो प्रसारित तो की मुख्य बात तो यही बादल आते हैं आकाश में छा जाते हैं गजराते हैं और फिर बिजली समझती है और हाँ? बिजली समझती तो पानी बचता भी है तो उसके बाद आगे दर्शन करते हैं किसी सिवाय तो फिर मेघों से पानी बचता भी है तो जब पानी बचता है तो कब बचता है तो कहीं बरसों ही जरा भूल नहीं आए तो वो बादल जब बहुत ऊंचे होते हैं तो नहीं बचते जब बादल <clears throat> मरते मरते बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास आ गए हैं पृथ्वी के नीचे तक बादल आ जाते हैं तब उनसे पानी बचता है तो कहते हैं बरसा ही गलत घूमने तो में और आए ये ध्यान देंगे तो पता भी चलेगा कि पानी जब बचता है तो बहुत ऊंचे बादलों से नहीं बढ़ता नीचे बादलों से बढ़ता है तो ऐसे कहते हैं क्या इधर देखो अध्यात्म में गीता कहते हैं यथा नहीं विधि विद्या पाए जैसे कि सज्जन पुरुष जो लोग हो यदि उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान से उनको निम्रता आती है और जिनको सज्जनता नहीं है पहले से उनके अंदर विकार है विकृत मन बुद्धि के व्यक्ति हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वही ज्ञान उन लोगों को अहंकार उत्पन्न करता है इसलिए देखो जगह जगह शिक्षा की बातें इतनी है कि ध्यान चंद मानस ही दृढ़ होती है जितनी शिक्षा जो जाते हैं उनको कोई सदनियम कर ले और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल ले तो कोई कोई कसर नहीं रहेगा व्यक्ति बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाए कहते न रहे बुद्ध विद्या पाए बुद्ध विद्या पाए अब देखो एक तो बुद्ध है और एक विद्या है बुद्धिमान व्यक्ति समझदार व्यक्ति हैं वो वो तो इस ज्ञान को प्राप्त करके समृद्धता प्राप्त करते हैं और जो मूल व्यक्ति हैं उनको भी विद्या प्राप्त हो सकती है लेकिन उसको प्राप्त करके उनको अहंकार हो जाएगा ये कहते हैं संस्कृत में इसी प्रकार जितने भी तुलसीदास जी कहते हैं अगर आप ढूंढेंगे तो संस्कृत साहित्य में सबके परल इसी प्रकार के श्लोक आपको मिल जाएंगे जैसे विद्या दिनेम विनयम विनयम ददाती पात्रताम इत्यादि श्लोक है वो तो ऐसे जो है वो विद्या से विनय विद्या के विनयम विद्या से विनय विनम्रता आती है हम्म। विद्या ददाती विनयम विनयम ददाती पात्रताम और जो जिन्हें जो जिन्हें को तो देखते हैं वही पात्र पात्र कायरात के पात्र है मनुष्य पात्र है उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा उनके जीवन का उत्थान भी विकास भी होगा अगर ब्रह्मता नहीं आती तो ज्ञान उनके हृदय में कारगर नहीं होगा उनके जीवन का विकास नहीं होगा आंतरिक कोई लाभ उनको उस ज्ञान से हो तो वो नहीं पात्रता में नहीं आती गौतम बुद्ध ने जब उनके शिष्य परंपरा चली तो उनके शिष्यों का शिष्य नहीं कहते वहां उनका नाम ही सबका नाम रखा विनीत उनके बौद्ध लोग जितने शिष्य जितने होते हैं सब विनीत होते हैं जैसे अपना ये कहा जाए कि शिष्य है गुरु है शिष्य है शिष्य है शिष्य समुदाय है तो वहां शिष्य समुदाय नहीं होता विनीत व्यक्तियों का समुदाय होता है सब विनम्र होते हैं तो विनम्रता के शिष्यों में जो ज्ञान ग्रहण करने वाले व्यक्तियों में विनम्रता महान गुण है अगर विनम्रता होगी तो तो वो ज्ञान ग्रहण कर लेंगे अहंकार उद्दंडता होगी तो वो ज्ञान से वंचित रह जाएंगे वो यही समझते रहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ मुझे क्या मुझे क्या समझना सब जानता इसकी जिंदगी पार हो क्या सब जान जाने लेकिन ऐसे नहीं है जो <coughs> है विनम्रता आनी चाहिए जो ये सब बातें जो है बहुत ही सोच विचार कर सूत्र रूप में है जीवन के मार्गदर्शक हैं ये सबके समाज तो उनको बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए ध्यान में यथा मन ही बुद्ध विद्या पाए विनम्रता बहुत बड़ा गुण है साधारण बात नहीं विनम्रता बहुत बड़ा गुण है और ये विनम्रता जब तक अहंकार होता है घमंड होता है तब तक विनम्रता आ नहीं पाती विनम्रता आ जाएगी तो अभिमान को भी नष्ट कर देगी अहंकार को भी नष्ट कर देगी हम्म। और ये बहुत बड़े दुर्गुण हैं इन दुर्गुणों से जितने भी सारे दुर्गुण हैं अहंकार और अभिमान ये विनम्रता उतना ही बड़ा गुण है विनम्रता लगे भले ही कोई साधारण बात है लेकिन बहुत बड़ा गुण है तो कहते हैं यथा रमही बुद्धि विद्या पाए दूर अथा तो सहन गिरी कैसे अब देखो कम कम से बात बताते पहले बादल आए फिर बिजली गिरी फिर बादल नीचे आए फिर पानी बरसा अब पानी बरसा तो कहाँ बरसा पर्वतों के ऊपर करता अब वहाँ पर भगवान जहाँ बास कर रहे हैं वहीं पर के पास पास बादल पर्वत है वहीं पर्वतों पर पानी बच रहा है तो बुंद और घाट सहन गिर कैसे और पानी की बूंद जब जबकि पर्वतों पर तो पर्वत का सहन करते हैं सहन करते हैं अब किसी रास्ते का दिखाई देता सहन करते हुए कि कैसे सहन करते हैं खंड के बचन संत जैसे जैसे छल लोग जो है वो है वो तो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनका स्वभाव ही होता है लेकिन संतों का काम क्या है सहन करना संत लोग पर्वत के समान हम्म? तो वो जो जो है वो दृढ़ है अपने स्थान पर अपनी महानता में अपने गुणों में अपने ज्ञान में वो अपने महान है और उस महानता के कारण से वो हो अचल पद प्राप्त किए हुए हैं देखो ध्रुव ने तपस्या की अंत में तपस्या करते करते काय परम अनुपम ठाऊ उनको अचल स्थिति ध्रुव ध्रुव बना अचल तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को अचल स्थिति प्राप्त हो जाती अचल स्थिति बनाना अब वो विचलित नहीं होता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं भले बुरी बातें आती हैं लाभ हम जो पराजय होते हैं सभी गर्मी की तरह से आते हैं जाते हैं सुख दुख आते जाते हैं लेकिन वो किसी से विचलित नहीं होता धीरे हो गया और असंत लोग दुष्ट लोग खल लोग कुछ कहें सहें भी हाँ भला भरा कहें भी तो भी उनको उसके ऊपर कोई उनको उतरा कर सदा शांत एक समान रहते तो ये कहते हैं कि खल खल के वचन संत तो सके जैसे खल का करके ये बता दिया कि देखो ये आप नहीं कर सकते जितने जानवान हो जाओ तो कोई आपको ऐसी शक्ति आ जाए कि संसार में कोई खल ही नहीं रहेगा और कोई कठोर वचन बोलने वाला न रह जाए कोई निंदा करने वाला न रह जाए ये हाँ, सब दुनिया में ऐसा हो जाए तो ऐसा कोई आप तक नहीं कर पाया न आप और हम कर पाएंगे हाँ, अगर ये सामर्थ्य हम लोगों की किसी की नहीं है तो फिर दूसरा उपाय क्या है कि भाई वो जो कुछ कहते हैं जो कुछ करते हैं उनको कहते हैं करने दो नहीं मानते न माने लेकिन अपने मन को क्यों खराब करो हाँ, ये अखंडानंद की बात है हाँ दुनिया में कुछ भी होता हो कुछ भी बने कुछ बिगड़े अपना मन क्यों खराब अपने मन को शांत रखो निर्विकार रखो अचल रखो अभ्यास डालो इस प्रकार का धीरे धीरे इसी में व्यक्ति की महानता है व्यक्ति में सहनशीलता आ जाती है विनम्रता आ जाती है गंभीरता आ जाती है तो ये व्यक्ति की महानता है और जो व्यक्ति खोखले हुए है तो अब कहते हैं कि एक जैसे कि अपने हिंदी में भी बहुत से कहावते हैं हम्म, अभिजल गगरी छलकब जाए हम्म, ऐसे जो है वो हो ऐसे चलने के लिए कहते हैं और उदाहरण इस प्रकार के हैं कहते हैं जहां जिनको की जो है थोथा चना बाजे धना यानी क्या इसी प्रकार के है तो, हम्म, तो ऐसे करके जहां व्यक्ति में खोखलापन है गुण नहीं है ज्ञान नहीं है वो बड़े बड़े तमाम बातें करेगा हल्ला गुल्ला मचाएगा लोगों को अशांत करेगा परेशान करेगा उद्दंडता करेगा ये सब इसी का लक्षण है शिक्षिता का लक्षण है जो बच्चे हैं इस प्रकार के उनके आगे <clears throat> जो प्रबल व्यक्ति हैं ज्ञानवान व्यक्ति हैं साधु है वो शांत स्वभाव के निर्विकार और दूसरे लोग विकार कम भी करते हैं तो भी धैर्यवान हैं उनको सब कुछ सहन कर लेते हैं इसलिए पर्वत का उदाहरण दे दिया मीना गात समय गिर कहते फलके बचन संत समय कहते नदी फल कभी पुराई अब देखो पता उनके पर्वतों के ऊपर पानी बरसा चलो पानी बरसने का मेरे के ऊपर पर्वतों के ऊपर गिरने का भी हो गई अब उसके बाद पानी बचा हुआ पर्वत का उसे समझ समझ करके पर्वतों से बह बह करके पानी नदियों में है छोटे नालों में है छोटे नालों से नदियों में है सब नदियों की कथा सुनू ये सब बरसात इतनी से शुरू हो गया जहाँ से बातें डालनी शुरू हुए अब एक के बाद एक पर से आगे बोलते जाते हैं क्षुद्र नदी भरे सभी कराई अब जैसे नदियों नदियों में पानी बरसा तो नदियों में पानी आ गया तो आप कहते हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं जो ज्यादा गहरी नहीं है ज्यादा चौड़ी नहीं है वो क्षुद्र नदी है वो ऐसे है जो जब पानी बरसा तो खुद भर गई और भर गई उन्हें बाढ़ भी आ गई तो कहते क्षुद्र नदी भर चली कराई जस फेरे धन खल पिपराई या दौराई पुराने पाठ है दौराई इसमें लिखा है पितराई तो कहते जस जस थोड़े धन खल पिपराई जैसे थोड़ा सा पैसा जैसे मिल जाए तो उसके लिए उसके लिए फिर खल शब्द का प्रयोग किया कहते देखो खल लोगों के सब लक्षण ये जैसे खल लोग दुर्वचन बोलते हैं जैसे खल लोगों की प्रीत स्थिर नहीं है जैसे खल लोग जो वो हो थोड़ा सा पैसा मिल गया तो उन्हें घमंड आ गया और इतरा से चलने लगे इतरा से चलने के मैंने क्या है जहां उनको पैसा मिला समझते मैं मेरा शासन बिगाड़ लेगा और मैं सबको देख लूंगा सबको ठीक कर दूंगा लड़ाई झगड़ा करने लगे अहंकार आ गया और लड़ने लगे और जहां लड़ने घटना होने लगे कहा बस उसके बाद मुकदमा करने लगा लड़ने करने लगे और बस कहा कि अच्छा हम देख लेंगे और वकीलों के साथ लगे कचहरी में करने लगे अब क्यों कर रहे हैं क्योंकि पैसा है तो जिनके के पास ऐसे खन लोग जो है वो क्षुद्र व्यक्तियों के पास पैसा आ जाता है तो लड़ाई झगड़े में पर पूरा में लगाते हैं ये उनका स्वभाव ये कहते हैं कि जस धन खल उतराई और भूमि पर तथा तो डाधर पानी भूमि पर अब देखो उसके बाद पानी जो बरसा जो है वो पहाड़ पर गिरा पानी जमीन पर गिरा जमीन पे गिरता है पानी तो पानी नदियों में देखो और वैसे भी भरा हुआ पानी जमीन पे देखो मैला मेला पानी हो गया बरसात का पानी घूम कर आपको मैला दिखाएगा घूम कर वहाँ डाभर पानी डाभर मैंने जिसे मिट्टी भी देखो जंगला पानी डाभर पानी बना है तो घूम पर गिरते हुए आकाश में पानी मैला पानी कभी तो बचता आकाश है आकाश को बिल्कुल डिस्टेंट वाटर गिरता रेल को एकदम से साफ किया होगा स्वच्छ पानी आकाश से आता है उसमें समुद्र का जो खारापन वगैरह वो भी सब वही रह जाता समुद्र में समुद्र में केवल जो वो है <clears throat> वो पानी पानी जिनको शुद्ध जल जो होता है वही आता है लेख में आता है और वही बसता और लेख रूप से जब पानी बसता है तो वायुमंडल में यदि कहीं उसमें और कुछ मिला हो वायु में हो सकती है तो कोई कण घूर कण प्यारी और कुछ मिले हो तो वो भी उसमें मिल जाए बरसा के लेकिन जब जब आता है पानी धूल पर आता है तब धूल पर आने पर मिट्टी से मिल करके और वो मेला हो जाता गर्मी के दिनों में हंसियां चलती हैं धूल उड़ती है वायु में भी धूल रहती है पहला पानी जब बचता है तो वायु वायु में जितनी धूल है वो घुल करके पानी में से नीचे आ जाती है पहले पानी पहला पानी गंदा होता है बचता हुआ भी गंदा होता है तो गांव में लोग बाग इस प्रकार जानते हैं कि पहला पानी बरसे तब नहाना नहीं चाहिए मना उसके बाद दोबारा जब पानी बरसे तब पानी बरसते में भी नहा सकते और तुलसीदास को क्या दिखाई दिया कि जैसे पानी बरसता है और पहला पानी बरसा और नदी में वो पहला पानी बरसा हुआ आया तो एक ऊपरी से वायुमंडल का ही मेलापन आ गया और फिर भूमि पर गिरा तो भूमि में भी जो ऊपरी मेलापन सबसे ज्यादा अधिक था उसमें जो और भी दूषित पदार्थ घूमने मिले हुए थे वो सब पानी के साथ भर करके नदी में नाले में आ गए उसमें जो मछलियां होती हैं उस पानी को पी करके दाखिल होने लगती हैं मरने लगती हैं फिर जब वो पानी भर जाता है दोबारा पानी बरसता है फिर घूम का भी पानी आ गया फिर नदियों में जब पानी बरसता है तब से जीवन होता है इसलिए नदियों के नहाने में भी मनाही की गई है कि जब बरसा रुकने का पानी बरसना प्रारंभ हो उस समय नदियों में स्नान न करे जब वो पानी बह जाए निकल जाए बरसात समाप्त होने लगे तब नदियों में नहाना चाहिए तो देखो इस पर ध्यान देंगे तो तुलसीदास जी ने सब बातें बड़ी बारीकी से सावधानी से समझी देखे हैं तो उनको बताते हैं इस प्रकार से कि घूम पर तो बाधर पानी पानी मेला हो गया तो कैसे हो गया कि जन जीव नहीं माया लपटानी ये देखो अध्यात्म की बात आ गई जीव क्या है जीव को तो माया लगती हुई इस प्रकार से इसलिए वो जीव है तो माया रहित हो जाए जीव तो वही आत्मा परमात्मा तो जीव को माया कैसे लपटती है हम्म, जैसे जीव जो वो हो माया में पड़ा माया जैसा संबंध हुआ प्रकृति के साथ जीव तो शुद्ध आत्मा है वो आत्म ये प्रकृति के साथ इसका संयोग हुआ तो उसके साथ प्रकृति के जो दोष दुर्गुण हैं वो जीव में मानव आ गए अपने मानव आ गए ऐसा लगने लगता है जैसे कि मानव आत्मा तो अनंत आत्मा है आकाश की तरफ सर्वत्र जात है अमर है निर्विकार है लेकिन किसी आत्मा ने शरीर से तादात्म कर लिया स्त्री शरीर से तो स्त्री शरीर ही नहीं है जब आत्मा को ये लगेगा तब क्या होगा स्त्री शरीर मरण करना है तो मरने का डर लगेगा स्त्री शरीर जो इसमें रोग लगने वाले हैं तो शरीर के रोगों को अपना रोग समझ करके रोगी अपने आप को समझने लगेगा शरीर के जितने भी विकार है शरीर मन भांग गए तो अपने आप को मन में समझने लगेगा इसी प्रकार से मन में सुख दुख होते हैं उनसे तादात्म करेगा तो अपने आप को सुख दुखी मानने लगेगा ये सब शरीर के विकार है आत्मा के विकार नहीं है लेकिन आत्मा जब आत्म तत्व जब वो प्रकृति के साथ तो उसने तादात्म किया भाई जगत के साथ में तादात्म किया शरीर मन बुद्धि आपके तादात्म किया तो इसके दोष दुर्गुण में वो उसके साथ लग गए यही आत्मा के साथ में माया का लग जाना है और जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये लगा रहता है अज्ञान हुआ था तो पता लगा कि ये सब हमको लगते ही नहीं हम गलत नहीं समझ रहे थे कि शरीर में हूँ और शरीर के दोष हमारे हैं इस प्रकार ये समस्या ये अधिकांश व्यक्तियों को होता ही है देहाभिमान ज्यादा होता है और ये आत्मा और अनात्मा का दोनों का तादाद होकर के शरीर ही में हूँ ये लगता है अब ऐसा व्यक्ति जो है कभी शास्त्र भी देखेगा और सुनेगा भी तो उसमें ये बात बराबर ध्यान रखेगा कहीं शास्त्र में ऐसी चर्चा आ जाए और ऐसी विद्या कहीं से पता लग जाए कि शरीर अमर हो जाए कभी नष्ट न हो कभी रोग न बात अगर ऐसी चर्चा बात में आ जाए तो देखो काम कर रहा है कैसे आगे कैसे होगा कैसे होगा रहा होगा बात उसी भी कंसनट्रेट करके साफ जाग जाएगा बिल्कुल खुद ध्यान से भी सुनेगा कि किस प्रकार से शरीर गड़बड़ हो जाए विकार दूर हो जाए एक बार पता चले कि देखो कुछ लोग जो है वो चिरजीवी हैं दीर्घजीवी हैं है? इस प्रकार से हनुमान जी जैसे हमें परेशान देते अच्छा दीर्घजीवी है दीर्घजीवी कैसे हो गए हाँ वैसे अगर तुम भी हो जाए तो हम भी दीर्घजीवी हो सकते कथा भाई हनुमान जैसे हो गए तो तुम भी चिरंजीवी हो जाए परशुराम जैसे हो गए तो तुम भी चिरंजीवी हो जाए प्रत्यान जैसे हम भी हो सकते हैं तो क्या नहीं हो सकते हैं मन शरीर खड़ा बनता है बस ये ध्यान क्यों कर जाता है क्यों ऐसी इच्छा करते हैं कि वो शरीर में तादाद में अरे स्वयं दीदी तो सब है आप ही क्यों तो सब अपने आत्मा स्वरूप है और आत्मा अनुसार अगर हमारे सर्वत आजाद हैं हम कहीं पूर्ण है अब कब हो जाएंगे और कब हो जाएंगे शरीर को बनाना चाहते हैं इस प्रकार सही तो होने वाला कभी नहीं इसलिए कहते हैं कि यह है कि भूमि प्रतिबाद आभर पानी जन की वही माया लपटाने और समित समित जल भरण कलावा समित समित जल भरण कलावा जो सदगुण सब जन कहीं आवा और सब वो मछली के बाद अब होगा पानी बहते बहते नालों का पानी तालाबों में आ गया समित करके तो तालाबों को भी देख लो वहां पर भी तो वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ तो तालाबों में पानी कैसे इकट्ठा होता है चारों तरफ सीट करके जिन सदगुण सब जन आया जैसे तो सज्जन व्यक्तियों में सदगुण चारों तरफ से आते हैं सज्जन व्यक्ति वो है जो सावधानी पूर्वक देखता है इस व्यक्ति में ये गुण है इस गुण के कारण उसकी ये महानता है ऐसा गुण तो अपने में भी आ सकता है अपने हाथ में भी वो गुण लाए दूसरे को देखा उसमें ये गुण दिखाई दिया इसलिए साफ कहते हैं कि दूसरे में गुणों को देखो दुगुण देखो अब दुर्गुण देखोगे तो उनके दुर्गुण तुम्हारे अंदर भी आने लगेंगे अरे दुर्गुणों को जब सत्या देखो तो अपने अंदर गुण आएगा कि देखो इसमें ये गुण देखो इसमें गुण गए देखो इसमें गुण गए देखो इसमें गुण गए सबके गुणों को देखो और देख करके उन गुणों को अपने आप में लाओगे जब उनको गुणों को देखोगे तो आएंगे भी अपने आप में और गुणों को एक सज्जन लोग अपने अंदर गुणों को एकत्र करते रहते हैं धीरे धीरे करके गुणों को बढ़ाते रहते हैं जिन सदगुण सज्जन कहीं आवा सरिता जल जल जाए अंत में नदियों को क्या होता बैठे बैठे समुद्र को पहुंच जाते हैं अंत हाँ? तो में समुद्र में समुद्र में नदियां बहते रहते समुद्र में पहुंचते हैं ऐसे क्या होता है बोल चले जिन जीव हरी पाई इसी प्रकार से जीव भी अपनी यात्रा पर चल रहा है और चलते चलते जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता तो जैसे नदियां समुद्र प्राप्त करते हैं तो उनकी गति समाप्त प्रचल हो गए समुद्र असल है नदियां गतिमान चले गति रहती है गति रहती हैं कब तक गति रहती है जब तक समुद्र नहीं मिलता जो जो तब तक जन्म वाले तत्व में घूमता रहता है जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त किया या परमात्मा को प्राप्त किया उसकी यात्रा समाप्त हो असर हो गया मैंने जीव कहता है कि तो जैसे समुद्र से जल वहां से हाथ बन करके उठा समुद्र में मूल स्थानीय जल का भंडार वही तो समुद्र के समान तो परमात्मा है और वहां से फिर जल मेघ बना तो मन जीव वहां उसी का अंश है और चला मेघ बन करके आकाश में तो मेघ भी वो समुद्र का एक भाग है अपर मेघ बरसे तो जल वो भी समुद्र का एक भाग है और वही फिर नदी नाले में जल आया तो भी वो समुद्र का एक भाग है और फिर वो बहते बहते फिर वो बह करके तो समुद्र में जाकर के मिल गया तो जहाँ से आया था वहीं पहुंच गया बस जैसे